अंतर यात्रा इस कक्षा का विषय है आध्यात्मिक व्यक्ति को अपने अंदर कहां कहां कैसे कैसे पहुंचना होता है आंतरिक रूप से उसे क्या क्रियाएं करनी होती हैं उनमें से कुछ विषय इन दिनों में आपके सामने रखे जाएंगे कल एक विषय रखा था मैं कौन हूं बार बार विचार करके अनुभव करके ये निश्चय करने योग्य विषय है जिनका इस विषय में निश्चय हो गया है वो बहुत अच्छी बात है जिनका निश्चय नहीं हुआ है उन्हें इस ओर और समय लगा के प्रयत्न करना चाहिए जब हमें ये पता लग जाता है कि मैं इस शरीर से भिन्न चेतन अणुस्वरूप निराकार आत्मा हूं अनश्वर आत्मा हूं नित्य आत्मा हूं तो हमारे सोचने का तरीका दृष्टिकोण फिर आत्मा पर केंद्रित हो जाता है हम अपना समस्त विचार अपने हानि लाभ पर केंद्रित रखते हैं कोई भी प्राणी जो इस शरीर को आत्मा मानता है वो इस शरीर के हानि लाभ को ध्यान में रख करके कार्य करेगा निर्णय लेगा उचित अनुचित का बोध विवेक इसी आधार पर करेगा और जिस साधक ने जिस आत्मा ने ये निर्णय कर लिया है कि मैं इस शरीर से भिन्न चेतन निराकार नित्य आत्मा हूं तो अब उसका हित अहित का केंद्र वो निराकार चेतन आत्मा रहेगा वो कुछ भी कार्य करेगा तो ये सोचेगा इससे आत्मा का हित है या नहीं है जो शरीर को मैं मानता है वो ये सोचेगा इस कार्य से इस वस्तु से शरीर का हित है या नहीं है जब साधक ये निश्चय कर लेता है कि मैं निराकार चेतन आत्मा हूं और उसी आधार पर अपने जीवन को देखने लगता है तो जीवन की सफलता और असफलता के की परिभाषाएं सफलता असफलता के पैमाने मापदंड बिल्कुल बदल जाते हैं हम सभी अपना अपना जीवन जी रहे हैं सामाजिक पारिवारिक दृष्टि से रहते हुए भी अनेक लोगों के साथ में मिलके रहते हुए भी हम अपनी यात्रा स्वतंत्र और बिल्कुल अकेले कर रहे हैं दिखने में हम कितनों के भी साथ में यात्रा कर रहे हैं चाहे घर में हो चाहे आश्रम में हो यात्रा तो हमारी अकेले की ही चल रही है और ये यात्रा जीवन की यात्रा सबके साथ में करते हुए भी आंतरिक रूप से हमें अकेले ही करनी होती है इस आध्यात्मिक यात्रा में हम स्वयं स्वतंत्र अकेले हैं अन्यों की सहायता मिलती है हम भी अन्यों को सहायता करते हैं लेकिन चलना हमारे को अकेले ही है ये शरीर भी हमारे साथ में है कुछ वर्षों के लिए लेकिन यात्रा तो हमारी अकेले की चल रही है अगले जन्म में फिर दूसरा शरीर मिलेगा इस शरीर के साथ हम लंबी यात्रा नहीं कर सकते तो यात्रा इस शरीर की तो नहीं हुई यात्रा तो उसकी हुई जो गाड़ियां बदल बदल करके चलता चला जा रहा है कभी रेल में बैठा कभी बस में बैठा कभी पैदल चला कभी साइकिल पे चला ये साधन तो बदल रहे हैं यात्रा तो किसी और की हो रही है ये यात्रा आत्मा की है और ये अकेली यात्रा है जब हम शरीर और अन्य परिवार सबको अपना मान करके चलते हैं एक दृष्टि से वो अपने हैं उसमें कोई दोष नहीं है लेकिन जब रागात्मक रूप से अपना मान के चलते हैं तो हम अपने जीवन की सफलता और विफलता उन सबको ध्यान में रखते हुए करते हैं एक माता या पिता से पूछो आपका जीवन सफल है आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं तो सामान्यतया वो कहते हैं बिल्कुल संतुष्ट हैं पारिवारिक जीवन अच्छा है बच्चों को पढ़ा लिखा दिया कर्तव्य पूरे किए उनका विवाह कर दिया और क्या चाहिए वो अपने लिए कोई शब्द नहीं बोलते जिस सफलता से वो संतुष्टि का भाव पाले हुए हैं उसमें किसको मैं मान करके चल रहे हैं ये यात्रा तो अन्यों के साथ में नहीं है लेकिन जीवन की सफलता असफलता हम अन्यों पे केंद्रित करके चल रहे हैं व्यापारी से पूछो आप सफल हैं हम सफल हूं क्योंकि मैंने इतना धन कमा लिया इतनी फैक्ट्रियां कर ली इतनी दुकानें खोल ली और क्या चाहिए वो अपने को व्यापारी देख रहा है व्यावहारिक स्तर पे वो व्यापारी है कोई दोष नहीं है मानने में किंतु केवल उसी के आधार पर जीवन की सफलता असफलता का निर्णय कर लेना ये अपने आप को अंधेरे में रखना है एक शिक्षक से पूछो जीवन सफल है आपका वो अपने को सफल शिक्षक मानता है मैं नियमित कार्य किया है बच्चों को खूब पढ़ाया है मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कोई ये बन गया कोई ये बन गया बहुत सारी चीजें बता देंगे मेरे शिष्य मेरे पास आते हैं तो बहुत प्रेम से मिलते हैं याद करते हैं कि देखो आप जैसा शिक्षक नहीं मिला आप बहुत अच्छे हैं ये है सफलता जीवन की लेकिन एक अंश में है बाकी क्षेत्र आत्मा का क्षेत्र क्या केवल किसी को पढ़ाना लिखाना यही हमारा जीवन है ये तो एक साधन है माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी आजीविका का अर्जन करते हैं और पुण्य कमाते हैं मन को पवित्र करने का माध्यम है ये लेकिन इसी को जीवन की सफलता कहना किसी प्रचारक से पूछें धर्मोपदेष्टा से पूछें आप अपने को सफल समझते हैं वो अपनी सफलता के कारण बना देगा बता देगा इतने लोगों को मैंने उपदेश दिए इतने कार्यक्रम किए इतने योग शिविर लगाए इतनी पुस्तकें लिखी इतने लाख की करोड़ की पुस्तकें बांटी इतनी जगह गुरुकुल खुलवा दिए ये सफलताएं हैं अच्छी हैं लेकिन यदि पूछा जाए क्या आप जीवन में सफल अनुभव करते हैं तो जीवन केवल ये तो नहीं है जीवन का संबंध तो आत्मा के साथ में है पर ये जो इस तरह के उत्तर देने वाले जितने भी व्यक्ति हैं ये मैं का मतलब आत्मा नहीं समझ पाते हैं वो धर्म के कार्य कर रहे हैं अच्छे कार्य कर रहे हैं किंतु एक शुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो अभी विकसित नहीं हुआ है हो जाएगा इसी तरह भी हो जाता है आज की अंतर यात्रा में आपको भी ये देखना है कि मेरा जीवन सफल है या नहीं है मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं अपने को संतुष्ट मानू या ना मानू आपको एक साधक की दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से अपने जीवन की आलोचना समालोचना करनी है उन सब चीजों को हटा दीजिए कि मैंने संसार के लिए क्या किया बच्चों के लिए क्या किया राष्ट्र के लिए क्या किया भौतिक उन्नति यश पद प्रतिष्ठा उन सब सफलताओं को और उन क्षेत्रों की सारी विफलताओं को भी हटा दीजिए उन सबको एक तरफ रख करके ये विचार कीजिए मैं अपने जीवन को सफल कहूं या ना कहूं मैं सफल हूं या ना हूं नहीं हूं ये विषय भी लंबे विचार के बाद में स्थिर होता है लेकिन अध्यात्म साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है इस अंतर यात्रा को करते हुए जब जब आप मैं शब्द का प्रयोग करें तो मैं का मतलब निराकार नित्य अणुस्वरूप आत्मा चेतन आत्मा लेकर के ही करें नहीं तो दृष्टि बिल्कुल अलग हो जाएगी तो पंद्रह मिनट के लिए आपको बैठना है ये पंद्रह मिनट इस कार्य के लिए एक प्रतीक रूप में है ये अंतर यात्रा आपको बार बार करनी होगी हो सकता है आप में से कोई पांच मिनट में भी निर्णय कर ले पंद्रह मिनट में भी निर्णय कर ले हो सकता है किसी को घंटों लग जाए लेकिन ये प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी ध्यान आसना ध्यान उपासना के आसन में बैठ जाएं, अपनी स्थिति बना लें नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें प्रत्याहार और धारणा की स्थिति बना लें मन को एक स्थान पर लें परमात्मा के स्मरण पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि मैं आपकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूं उसी प्रक्रिया में आज मैं ये निश्चय करने बैठा हूं कि मेरा जीवन सफल है या नहीं है और यदि इसे सफल बनाना है तो आगे मुझे क्या करना है ये सारी विवेचना में पूर्ण एकाग्रता से पूरी जागरूकता से कर पाऊं ऐसी मुझ पर कर। उच्चारण के जीवन के आधार पर अब तक के जिए जीवन को देखते हुए अपनी सफलता असफलता का आकलन करें मानव जीवन में आकर मैंने अपने अंतकरण को मन को कितना पवित्र बनाया है अथवा कितना अपवित्र किया है मन पर अच्छे संस्कार कितने डाले हैं और बुरे संस्कार कितने हैं सकाम कर्म कितने किए हैं और निष्काम कर्म कितने किए हैं केवल अपने बारे में चिंतन करें केवल अपने जीवन को देखें समस्त सांसारिक उपलब्धियों को अलग रखते हुए कितना ज्ञान पाया कितना धन बल कितना परोपकार किया उस सबको अलग रखता है मैंने नितांत अपने लिए अंतकरण की पवित्रता के लिए कितना किया है इस संसार की समस्त गतिविधियों कार्यों को करने के बाद भी मैं मुक्ति की तरफ कितना पढ़ा हूं ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ये अत्युत्तम मनुष्य शरीर ये बुद्धि इसका उपयोग मुक्ति के लिए कितना किया है कोई अन्य विषय उठा लें तो तत्काल रोक करके अंतर यात्रा के इसी विषय पर केंद्रित हो जाए सब कुछ खुला खुला देखते चले किसी से कुछ संकोच नहीं किसी से मुख न मोड़े किसी घटना से मुख न मोड़े जैसा जीवन है मैंने जिया है तटस्थ भाव से आकलन चलता रहेगा घर परिवार से अपने को बिल्कुल अलग करते हुए केवल अपने आत्मा के जीवन को देखें अपनी नितांत अकेली स्वतंत्र यात्रा को देखें इस यात्रा में मुक्ति की ओर बढ़ने के साथ मुक्ति की ओर पढ़ने के लिए मिले इस जीवन में मैं दूसरे रास्ते पर तो नहीं चला गया मैं मुक्ति के रास्ते पे कितना चला मैं मुक्ति के रास्ते से कितना दूर हटा मैं मुक्ति की विपरीत दिशा में चला या मुक्ति के अनुकूल चला तक के जीवन में मैंने कितना विवेक और वैराग्य उपलब्ध किया है विवेक और वैराग्य अध्यात्म के आधारभूत सफलता को देने वाले क्या इस जीवन में मैंने कुछ विवेक और वैराग्य पाया है पाया है तो कितना पाया है केवल अपनी यात्रा को देखना है मेरी इस मानव शरीर में इस बार की यह यात्रा कैसी रही है कैसी चल रही है क्या मैं एक साधक के रूप में एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में अपनी इस यात्रा को अपने इस जीवन को सफलता की स्थिति में रखता हूं अथवा विफलता की कोटि में सफलता प्राप्त की है तो कितनी प्राप्त की है और विफल रहा हूं तो किस किस क्षेत्र में किस किस आध्यात्मिक क्षेत्र में विफल रहा हूं से रुकेंगे परमात्मा का पुनः स्मरण करेंगे ओ। खोल लीजिए अपनी अपनी यात्रा का कुछ अवलोकन अवश्य हुआ होगा निष्कर्ष भी कुछ निकाले होंगे ये अंतर यात्रा अपने जीवन को देखना अभी बहुत स्थूल रूप से और थोड़े से के काल थोड़े से काल में आपने किया है जब भी आपको समय मिले इस अंतर यात्रा को और करते रहें यदि अभी निष्कर्ष निकल भी गया है अब तक की जीवन यात्रा की दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से ये विफल है तो भी ये अंतर यात्रा अभी पूर्ण नहीं होती है साधक को सूक्ष्मता से ये देखना होता है किस किस अंश में कितना कितना मैं विफल रहा हूं अब मुझे कहा कार्य करना है किस क्षेत्र में कार्य करना बाकी है कितना अंश किस किस का मैंने कर लिया है और अब आगे मैं ये कैसे करूं जितना भी जीवन मेरा बचा है वो अब मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि से साधक की दृष्टि से कैसे बिताऊं विचार के एक योजना बनानी होती है जैसे व्यक्ति विवाह करता है तो बहुत विचार करके योजना बना के करता है नौकरी करता है तो बहुत सोचता है मकान बनाता है तो बहुत सोचता है योजना बनाता है आगे पीछे की बातें सोचता है उससे भी कहीं अधिक गंभीरता से सूक्ष्मता से ये सोचने की और निर्धारित करने की बात है अब तक का जीवन जो भी बीत गया क्या उस जीवन का भी लाभ हम अब आध्यात्मिक उन्नति में ले सकते हैं एक भाव साधक के मन में आता है कि वो तो समय बीत गया तीस साल चालीस साल पचास साठ सत्तर वर्ष बीत गए और आगे कुछ करना है और आगे करने लायक अब शरीर नहीं बचा है ढंग से बैठ नहीं सकता हूं कहीं जा नहीं सकता हूं ढंग से सुन नहीं सकता हूं ढंग से पढ़ नहीं सकता हूं कई रोग लग चुके हैं बच्चे की ये समस्या है इसका ये है कितना करूंगा कैसे करूंगा आगे की योजना फिर भी बनानी ही होती है किंतु इसके साथ साथ अब तक का जो जीवन जिया है उससे भी बहुत अधिक लाभ ले सकते हैं अभी भी ले सकते हैं जो जीवन जिया है जीवन के जो अनुभव हुए हैं उनकी जितनी भी स्मृति हमारे पास में है उसके आधार पर पिछली घटनाओं का फिर से विश्लेषण करना यदि संसार के भोगों को भोगते हुए भी विवेक पैदा नहीं हुआ है वैराग्य पैदा नहीं हुआ है तो क्या फिर से भोगे उनको जागरूकता के साथ ताकि फिर से विवेक वैराग्य पैदा हो जाए हो सकता है ये भी लेकिन सबकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि उन सब चीजों को फिर से भोगा जाए पीछे के भोगे हुए का विश्लेषण भी एकांत में एकाग्रता में बैठ करके अंतर यात्रा द्वारा एक एक परत को खोलते हुए जीवन के एक एक पृष्ठ को पलटते हुए भले ही वो पृष्ठ कितने पुराने हो गए हों जीर्ण शीर्ण हो गए हों टूट फूट गए हों थोड़ी थोड़ी टुकड़े में घटनाएं मिल रही हों लेकिन फिर भी इतना है हमारे पास कि उसका विश्लेषण करके हम विवेक जगा सकते हैं वैज्ञानिक परमाणु विस्फोट करते हैं भारत ने भी किया वो कहते हैं बार बार हमको अब विस्फोट करने की आवश्यकता नहीं है अभी निष्कर्ष निकले नहीं है तो क्या अगले निष्कर्षों के लिए और विस्फोट करने की आवश्यकता नहीं है बोलते नहीं है बोले इस एक विस्फोट के करने से ही हम इतने आंकड़े कंप्यूटर में एकत्रित कर लेते हैं कि उसका विश्लेषण फिर बाद में कई वर्षों तक करते रहते हैं और उसके निष्कर्ष निकालते रहते हैं ये मन किसी कंप्यूटर से कम नहीं है उससे बढ़कर के है कंप्यूटर अनुभवों को संग्रहित नहीं कर सकता वो विश्लेषण तो तेजी से कर सकता है लेकिन अनुभव रहित है मन में जो हमने संग्रह किया है घटनाएं की हैं भले ही हम उनमें विफल हुए हैं भले ही हमने उन घटनाओं से जीवन से अपने कुछ संस्कार डाले हैं जब साधक एकांत में बैठता है अंतर यात्रा करता है विवेक को सीख पाने के लिए वो अंदर बैठे बैठे भी कुटिया में बैठे बैठे भी एक एक करके बातें याद करता है जो भी घटना याद आ गई उसी का विश्लेषण करने लगता है उससे सीख लेने लग गया निष्कर्ष निकालने लग गया एक घटना दूसरी घटना आज जो बहुत सारी घटनाएं बिल्कुल याद नहीं आए बताने पर भी नहीं आए वो भी जब वो एकाग्रता में जाकर के लगता है तो कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए वो बहुत सी बातें याद आएंगी ये विफल जीवन भी आध्यात्मिक दृष्टि से विफल जीवन भी हमारे आगे का आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त कर सकता है यदि हम समय निकालें अपने लिए घंटा दो घंटा सात दिन महीना भर सबसे हट करके किसी की चिंता नहीं व्यापार परिवार जो होगा सारी व्यवस्था पहले से करके निकले मैं अपने लिए निकल रहा हूं दूरभाष समाचार पत्र वहां कुछ काम नहीं करेगा बाधा ही पैदा खड़ी करेगा ये सारा संसार वहीं उपस्थित हो जाएगा यदि हम उसी तरह उनसे बात करते रहे दूरभाष से जो कार्य करना है वो नहीं हो पाएगा परमात्मा की बड़ी कृपा है उसने मन जैसा यंत्र हमें अंतकरण दे रखा है जिसमें संस्कार भरे पड़े हैं हमारे घटनाएं स्मृति के रूप में हैं अब ये साधक की साधना है ये साधक की बुद्धिमत्ता है कि नई घटनाओं को कर करके समय और श्रम लगा के निष्कर्ष निकाले अथवा अब तक जो घटनाएं हो चुकी हैं जो विफलताएं देखी हैं उसी से निष्कर्ष निकाल के विवेक पैदा कर ले और विवेक पैदा हो गया तो वैराग्य आना ही है और वैराग्य आ गया तो समाधि लगनी ही है बहुत से साधक आते हैं प्रश्न करते हैं एकाग्रता कैसे हो एकाग्रता कैसे हो सब कुछ अच्छी तरह देख लीजिए देख लिया है विश्लेषण नहीं किया निष्कर्ष नहीं निकाले जागरूकता से उन घटनाओं को नहीं देखा अब तो जागरूक हो रहे हैं हम कोई बात नहीं पीछे लौट करके फिर आएंगे पीछे लौट के एक एक घटना को देखेंगे और निष्कर्ष निकाल लेंगे साधना के अंदर इस तरह की अंतर यात्राएं करनी होती है आप परिवार में रहते हुए जब आपको समय मिल जाए बैठे हैं किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं परेशान होने की बात नहीं ठीक है वो दस मिनट देरी से आया बैठा हूं अपनी अंतर यात्रा कर ली कुछ सोच लिया दुनिया को पता नहीं लगेगा मैं क्या कर रहा हूं उनको बताने की आवश्यकता भी नहीं है ये विश्लेषण स्वयं एकांत में कीजिए अपने तक सीमित रखिए कुछ उलझन है तो जागरूक व्यक्ति से समझदार इस मार्ग पर चलने वाले से पूछ लीजिए तो किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है अपना काम करते रहिए जब समय मिल जाए चलते हुए अकेले चल रहे हैं वहां भी कर सकते हैं अभ्यास होने पर नहीं तो प्रारंभ में बैठ करके ही एकाग्र होकर के ही इस क्रिया को करना होता है साधक लोग जो एकाग्रता में जाते हैं एकांत में जाते हैं वो कोई हर समय केवल परमात्मा का ओम ओम ओम ओम नहीं जपते रहते हैं जो वैदिक धर्मी है शुद्ध पद्धति को जानते हैं जो शुद्ध पद्धति को नहीं जानते वो तो यही सोचते हैं कि बस ओम जपते रहो मंत्र जपते रहो एक लाख एक करोड़ उनको पता नहीं है कि क्या करना है उसी में लगे रहते हैं वो भी करना है वो भी करेंगे लेकिन ये काम भी अपना करना है इसी से विवेक प्राप्त तो आज की अंतर यात्रा की कक्षा यहीं तक रखते हैं परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देते हुए अपनी अंतकरण की स्थिति बनाए रखते हुए इस शिविर में जो अवसर मिला है अपने को पूर्ण आध्यात्मिक बना लेने का अध्यात्म की ओर मुख कर लेने का यदि संस्कार उभर रहे हैं तो उसको संभाल के अंदर रखते रहिए अन्यों को देख करके अन्यों से बातचीत करके इस अवसर को बिल्कुल न खोएं फिर परमात्मा से प्रार्थना करें हे प्रभु मैं प्रयत्नशील हूं मुझे मार्ग प्रशस्त कीजिए Oh आंतरिक स्थिति बनाए आंखों को नीचा रखते हुए आगे के कार्य के लिए